नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो Clash of Civilizations से related है मतलब कि Clash of Civilizations का इंडिया से present day इंडिया से किस तरह से लेना देना है तो basically Clash of Civilization क्या है कि पिछले 10,000 साल से पूरी दुनिया में युद्ध हो रहे हैं कोई नई बात नहीं है और युद्ध में जिसके पास जितनी बड़ी संगठित मजबूत सेना उसके जीतने की संभावना ज्यादा तो अपने प्रदेश में से ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैनिक सेना में रिक्रूट करने के लिए सेना में आने के लिए मोटिवेट करने के लिए जितनी भी राज्य सत्ता हैं वो हर तरह से कल्चर का रिलीजन का उपयोग करती है ताकि उसकी सेना ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने दूसरे की सेना को खत्म करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए दोनों रीजन होते हैं उसमें अपने आप को बचाना यानी डिफेंस और ऑफेंस यानी सामने को खत्म करना तो इसलिए पिछले 5000 साल से खास करके पिछले 3000 साल से जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें धर्म का बड़े पैमाने से उपयोग हुआ है और पिछले 2000 साल से ज्यादा जैसे जिहाद हुए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को लेकर फिर उसके बाद इस्लाम के एक्सपेंशन में जो सोमनाथ लूटने आया था मोहम्मद गजनी उसने भी इस्लाम का उपयोग किया अपने सैनिकों को उसने इस पॉइंट पे मोटिवेट किया था कि इस तरह से हम मंदिर लूटेंगे तो तुम्हारे जन्नत में स्वर्ग में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस तरह अब तो सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए रिलीजन एक से अपनी प्रजा को मोटिवेट करने के लिए रिलीजन हमेशा एक इम्पोर्टेंट वस्तु रही है अब डेमोक्रेसी आ गई तो और इम्पोर्टेंट हो गया डेमोक्रेसी में युद्ध में जाने के लिए करोड़ों लोगों की सहमति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहमति लेना जरूरी है इसलिए कल्चरल एस्पेक्ट फिर वो वे ऑफ लाइफ हो या रिलीजन हो उसको पॉलिटिक्स ऑफ वॉर में उसको लाना और जरूरी हो गया है इसलिए वो आ गई है अब आ गई है तो हमें हम क्या कर सकते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उससे रिलेटेड ये वीडियो है तो वर्ल्ड में जहां तक हमारा लेना देना है वर्ल्ड में तो 50 ग्रुप है पर जहां तक हमारा लेना देना है मैंने पांच मेन ग्रुप्स को यहां पे रखा है एक है अमेरिका या नाटो कंट्रीज अमेरिका या नाटो कंट्रीज यानी अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस वो आज की तारीख में एक ब्लॉक है जब इंटरनेशनल वॉर पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये सारे देश एक हो जाते हैं यूएसए यूके तो उसको मैं यूएसए और नाटो कहता हूं फिर दूसरा है चाइना एक वो भी हमारे लिए इश्यू है चाइना फिर रशिया जो कि हमारा किसी भी एंगल से दुश्मन नहीं है और बाय एंड लार्ज एक मित्र देश रहा है पर हर कीमत पे हर मुद्दे पे हमारी मदद करेगा वो भी जरूरी नहीं है अब तक उसने हमारी मदद की जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध में मदद की थी 1962 में हमारी मदद नहीं की लेकिन फाइनली चीन को दबाने में रशिया का थोड़ा हाथ रहा था तो एक रशिया है दूसरा Islamist country Saudi Arabia Iran वगैरह उनके आपस के झगड़े हैं ईरान आज हमारा मित्र है लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेंड कभी नहीं रहा रह भी नहीं सकता क्योंकि उनका एक मकसद है कि भाई वहां के जो अमीर लोग हैं उनका आम आदमी का तो ऐसा कोई मकसद नहीं होता पर वहां के जो सऊदी अरेबिया के शेख है उनका ये मकसद है कि पूरे विश्व में पूरे भारत में पूरे विश्व में सारे धर्म को खत्म कर दो इस्लामी होना चाहिए और एकमात्र धर्म वैसे परिस्थिति तो ये है कि 20 साल के अंदर इराक में से सऊदी अरेबिया में से इस्लाम खत्म हो जाएगा वहाँ ईसाई धर्म आ जाएगा लेकिन अभी भी ये लोग इस सपने में जीते हैं कि हमें पूरे भारत में इस्लाम लाना है इसलिए वो एक और उनके पास ताकत है और उनके पास इंडिया में बेस भी है उनके पास पेट्रोल है पैसा है इंडिया में बेस है इसलिए वो हमारे लिए इश्यू है अभी ऐसे कोई आदमी मैक्सिको में होते तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था ना उनके पास इतनी ताकत है ना उनके पास इंडिया में बेस है लेकिन इनके पास है और पांचवा ग्रुप है वो है भारत के राष्ट्रवादी भारत के स्वदेशी और हिंदूवादी ये तीन में काफी ओवरलैप है पर एक नहीं है क्योंकि बहुत सारे हिंदूवादी है वो स्वदेशी से दूर भागते हैं जैसे आप विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से कहोगे तो उनको स्वदेशी की बात अच्छी लगेगी लेकिन वो कहोगे कि भाई ये मल्टीनेशनल की कंपनियों के खिलाफ ये ये कैंपेन कर रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं हमारा काम है मतलब हमारे नेताओं ने कहा है कि हमारे संस्था का एकमात्र काम है हिंदू धर्म की रक्षा करना तो मल्टीनेशनल कंपनियों की लड़ाई आप खुद अलग से लड़ो हम हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो स्वदेशी को पसंद करते हैं लेकिन कैंपेन की बात आएगी तो पीछे हट जाएंगे इसी तरह से जो राष्ट्रवादी है वो कभी कभी हिंदूवादी से क्यों नहीं उनकी आ, हमेशा अलाइन होते क्योंकि हिंदूवादी है वो कभी कभी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी होते हैं जो होना चाहिए एक बहुत बड़ा अंतर है इस्लामिस्ट और इस्लाम इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है मुस्लिम यानी कि कोई आदमी अपने जीवन में इस्लाम फॉलो कर रहा है और इस्लामिस्ट का अर्थ होता है कि वो चाहता है कि भाई दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो सिर्फ इस्लाम ही होना चाहिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है और इसी तरह से क्रिश्चियनिस्ट एक शब्द होता है और क्रिश्चियन वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जैसे केरल के क्रिश्चियन है वो ज्यादा कन्वर्जन में बिलीव नहीं करते सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है वो लोगों को इतना पैसा देते हैं या दबाव डालते हैं ऐसा नहीं करते वो अपना क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते हैं और हिंदुओं और बाकी जो केरल में मुस्लिम हैं उनके साथ भी को एग्जिस्ट करते हैं लेकिन जो अभी सदर्न बैप्टिस्ट अमेरिका के और वो सब है वो क्रिश्चियनिस्ट है यानी कि वो कहते हैं कि दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो क्रिश्चियनिटी एकमात्र धर्म होना चाहिए तो जो हिंदूवादी है वो बिना मतलब का कभी कभी ऑर्डिनरी मुस्लिम और ऑर्डिनरी क्रिश्चियन के क्यों खिलाफ बोलते हैं क्योंकि उनको ये दो कंसेप्ट उन्होंने ठीक से स्टडी नहीं किए कि मुस्लिम अलग है और इस्लामिस्ट अलग है तेवर दिखाने चाहिए सिर्फ इस्लामिस्ट को लड़ाई करनी चाहिए सिर्फ इस्लामिस्ट के खिलाफ मुस्लिम के खिलाफ नहीं करनी चाहिए क्रिश्चियन सिर्फ क्रिश्चियनिस्ट के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए मिशनरी के खिलाफ ऑर्डिनरी क्रिश्चियन के सामने नहीं करनी चाहिए और इसलिए कभी-कभी हिंदूवादी और राष्ट्रवादी है वो अलाइन नहीं होते एक से एक एक लाइन में नहीं आते पर बाय एंड लार्ज ये एक पांचवा ग्रुप है जो कि भारत का हित इच्छता है, भारत का हित प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ये पांच ग्रुप है, एक तो America, NATO, China, Russia, Islamist, ध्यान रहे ये शब्द मुस्लिम से जमीन आसमान का फर्क है, ये मुस्लिम नहीं है, इस्लामिस्ट है, यानी कि दुनिया में सारे धर्म खत्म कर दो इस्लाम के सिवा, और भारत के राष्ट्रवादी, स्वदेशी, हिंदूवादी। भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये तीन बिना मतलब के एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं ये तीन यदि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करे इन्फॉर्मेशन के द्वारा अध्ययन करके इन्फॉर्मेशन लेके तो भारत की जो राष्ट्रवादी स्वदेशी और हिंदूवादी मूवमेंट है वो तीनों मजबूत हो सकती है अब अमेरिका का लॉन्ग टर्म गोल क्या है अमेरिका का वही लॉन्ग टर्म गोल है जो कि आज से 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या गोल था कि पूरे दुनिया पे इकोनॉमिक डोमिनेशन और पूरी दुनिया में ईसाई धर्म ये जरूरी है अक्सर कहा जाता है कि जो भारत के जो पेड हिस्टोरियन है थापर वगैरह रोमिला थापर और वो सब वो कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट था हुकूमत में इंटरेस्ट था उनको हिंदू धर्म या इस्लाम खत्म करने में इंटरेस्ट नहीं था क्रिश्चियनिटी फैलाने में इंटरेस्ट नहीं था वो गलत है उन्होंने गाय की और सुअर की चर्बी मिलाई थी कारतूसों में वो इसलिए मिलाई थी ताकि सैनिकों को ईसाई धर्म कन में कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो और वो बैकफायर हो गया उसकी वजह से विद्रोह हुआ क्रांति हुई अठारह में उसके बाद उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिया वो प्रयत्न उन्होंने 1950 में दोबारा शुरू किया तो अमेरिका और नाटो के अंदर दो मेन ग्रुप है एक है एमएनसी ओनर्स और दूसरा मिशनरी ये दोनों आपस में तालमेल रखते हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनियां जहां भी जाती है वहां एक बार उनका पगडंडा जम जाए उसके बाद वो वहां के स्थानिक धर्मों को खत्म करके मिशनरियों को प्रमोट करती है जैसे साउथ कोरिया साउथ कोरिया में मल्टीनेशनल कंपनियों को एंट्री दी वहां के आ, उस समय के राष्ट्रपति पार्क चंग ही ने पार्कचंग ही हर तरह से आपको नरेंद्र मोदी के कॉपी लगेंगे उसका पार्कचंग ही का पूरा स्टडी करो तो पैरेलल कार्बन कॉपी नहीं कह सकते कार्बन कॉपी नहीं कहना चाहिए पैरेलल कि उनका ग्राफ भी इसी तरह से उभरा था कि वहां पे बड़े बड़े पैमाने पे धूंती थी लोगों ने कहा कि भाई स्ट्रांग लीडर होना चाहिए लोगों ने यानी कुछ एक कार्यकर्ताओं ने ऐसा कुछ नहीं था कि लोग स्ट्रांग लीडर चाहते थे पर और वो आ गया और आने के साथ उसने क्या किया क्या करना पड़ा उसको उसके पास एक ही ऑप्शन था कि बड़े पैमाने पे उसने पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों को एंट्री दी पूरा साउथ कोरिया उसने मल्टीनेशनल कंपनियों को सौंप दिया तो उसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनियों ने बड़े फैक्ट्रियां डाली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई सुपरफिशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ी साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हुआ लेकिन 20 साल के बाद उन्होंने वहां पे बुद्ध धर्म खत्म करना शुरू किया और उसकी जगह ईसाई धर्म लाना शुरू किया और उसकी वजह से साउथ कोरिया में 1960 में 5 परसेंट क्रिश्चियन थे, 3-4 परसेंट क्रिश्चियन थे, आज वहाँ पे 40 परसेंट से ज़्यादा क्रिश्चियन हैं। और जो 60 परसेंट बुद्धिस्ट है, उनमें से 30 परसेंट अपने आप को बुद्धिस्ट कहने से घबराते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि वो सेक्युलर है या तो नॉन रिलीजियस है, नॉन डिनोमिनेशनल शब्द बोलते हैं, कि हम किसी धर्म में नहीं मानते। तो जो USA missionary owner, MNC owner है, उसके अंडर में यूएस गवर्नमेंट है एमएनसी ओनर्स में दो सबसे बड़े नाम आपने सुने होंगे रॉकोफेलर और रॉसचाइल्ड पर दो अकेले नहीं है ऐसा नहीं है कि रॉकोफेलर एक आदमी है उसका पूरा फैमिली है तीस लोगों का और रॉसचाइल्ड में भी कुछ फैमिली में तीस चालीस लोग है रॉसचाइल्ड एल्डर जो बोलते हैं सबसे उनके फैमिली का वयस्क आदमी उसकी जो भतीजी है उसकी भतीजी ने शादी की है अमृत्य कुमार से नोबल प्राइज विनर वो शादी करने के बाद उसने नोबेल प्राइज़ दिलाया रॉसचाइल्ड ने अमृति कुमार को नोबेल प्राइज दिलाया और कुछ 2000 इंडिविजुअल बोले जाते हैं कि जिनके पास मीडिया बैंक और वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर है ये तीन कंपनियों के और माइंस पेट्रोल बाकी mines media weapon manufacturing company और बैंक्स और मीडिया और इनके द्वारा वो एमएनसी ओनर है वो सेनेटर को कंट्रोल करते हैं सेनेटर को प्रेसिडेंट को इसको कंट्रोल करते थे इससे वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और जब कोई काम ओपनली करना होता है तो वो यूएस गवर्नमेंट के थ्रू कराना है जैसे कोई कंट्री को लोन करानी है या तो उसको आ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कराना है गवर्नमेंट के साथ या किसी पर और यदि छिपके कोई काम करना होता है तो CIA के थ्रू होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मैनिपुलेशन है तो वो सारे काम CIA करके देगी और दोनों ना चले तो सीधी आर्मी भेजनी हो जैसे इराक में ना CIA घुस पाई ना अमेरिका की ऑफिशियल गवर्नमेंट सिविलियन गवर्नमेंट घुस पाई तो सीधा यूएस आर्मी भेज के पूरा इराक तबाह कर दिया लीबिया तबाह कर दिया इस तरह से पूरे इराक पे और फिर बाद में लीबिया पे कंट्रोल ले लिया और एक बार एमएनसी ओनर के पास कंट्रोल आए उसके बाद वो मिशनरी बड़े पैमाने पे भेजते हैं ताकि वहां के स्थानिक धर्म खत्म करके ईसाई धर्म लाया जाए वो दोनों एक दूसरे को आ, सपोर्ट करते हैं जैसे कि फिलीपींस में अब 70 80 क्या 90 परसेंट क्रिश्चियनिटी आ गई साउथ कोरिया में 40 50 परसेंट क्रिश्चियनिटी आ गई और इराक में अभी 15 परसेंट के करीब क्रिश्चियनिटी आ गई 15 परसेंट से अब तो ज्यादा हो गया 15 परसेंट तो कुछ चार पांच साल पुराना आंकड़ा है तो ये क्या है बेसिकली प्रो एमएनसी ओनर वो तो होंगे क्योंकि वो खुद है प्रो मिशनरी अब ये दोनों ही होना पड़ेगा यदि आप प्रो एमएनसी ओनर हो तो सुनर और लेटर प्रो मिशनरी होना ही पड़ेगा क्योंकि ये लोग एमएनसी ओनर है वो 20 साल के बाद मिशनरी लाएंगे यानी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम प्रो एमएनसी ओनर है एंटी स्वदेशी है प्रो एमएनसी है लेकिन हम मिशनरी को सपोर्ट नहीं करते काफी हिंदूवादी ऐसा बोलते हैं बीजेपी के अंदर के हिंदूवादी तो वो एक झूठ है वो शायद खुद नहीं जानते ऐसा दिखावा कर रहे हैं या तो दूसरों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं इनको सपोर्ट करेगा तो मिशनरी को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये इनके एजेंडा क्या है ये इंडिया को खत्म करना चाहता है ये इराक ईरान हर जगह से इस्लाम को खत्म करके वहां क्रिश्चियनिटी लाना चाहते हैं सऊदी अरेबिया को भी खत्म करना चाहते हैं वहां पे भी क्रिश्चियन और फिर वो चीन को भी खत्म करना चाहते हैं वो पूरी दुनिया पे राज चाहते हैं ये इनका एजेंडा है और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है दुनिया में जो भी शासक शक्ति थी हुआ उसने पूरे दुनिया पे राज करने की कोशिश की है अब चाइना तो चाइना को धर्म के प्रचार में कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां की population by and large atheist है बुद्धिस्ट है बुद्धिज्म में प्रचार पे ज्यादा जोर नहीं दिया गया वो प्रचार करते हैं पर जिस तरह का जो क्रिश्चियनिस्ट है जैसे कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने लैटिन अमेरिका लैटिन अमेरिका में जितने जितने ट्राइबल एरियाज थे वहां ईसाई धर्म का प्रचार किया और जिन्होंने ईसाई धर्म को नहीं स्वीकारा उनको खत्म कर दिया इसी तरह से जो इस्लामिस्ट जो एलिमेंट है कि वो बात यदि वो बात स्वीकार नहीं करता तो उसको खत्म कर दो वो बुद्धिज्म में कभी नहीं रहा तो इसलिए चाइना के अंदर वो एथिस्ट है इसलिए रिलिजन का प्रचार करने का उनका कोई एंगल नहीं है वो ऑब्वियसली प्रो चाइना है वो एंटी मिशनरी ओनर है क्योंकि मिशनरी एमएनसी ओनर है वो चाइना को खत्म करना चाहते हैं इसलिए उनको एंटी एमएनसी ओनर बनना पड़ेगा वो एंटी मिशनरी भी है चाइना चाइना में मिशनरियों पर बहुत रोक है क्योंकि मिशनरी है वो वहां पर ईसाई धर्म लाने के बाद वहां की चाइना की पूरी इलिट है उसको खत्म करना चाहता है मतलब वो ईसाई धर्म लाने के बाद सीधा वेस्टर्न एमएनसी ओनर से उनको चाइना में घुस लाने भी करेंगे वो एंटी इंडिया भी है दो रीजन से एंटी इंडिया है कि यदि इंडिया को तोड़ देता है चाइना तो जितना एक्सपोर्ट मार्केट इंडिया का है वो चाइना के हाथ में आ जाएगा दूसरा चाइना खुद चाहता है कि यदि नॉर्थ ईस्ट का एरिया इंडिया के हाथ में आ रहा है चाइना के हाथ में आ जाए नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट में 45,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल है, प्लस वहाँ पे आसाम में बहुत सारा क्रूड ऑयल है। तो इसलिए चाइना पिछले 50 साल 60 साल से एंटी इंडिया रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो शॉर्ट टर्म में प्रो इस्लामिस्ट क्यों होगा। प्रो इस्लामिस्ट यानी वो सऊदी अरेबिया को, ईरान को क्यों उसको मदद करनी पड़ेगी, हालांकि उसको लॉन्ग टर्म में दोनों एक दूसरे के दुश्मन है तीसरा ब्लॉक है रशिया। रशिया है वो बाय एंड लार्ज न्यूट्रल रहेगा बहुत स्मॉल पॉसिबिलिटी है कि चाइना के साथ ज्वाइन करे पर अब नहीं करेगा अब बहुत दूर हो गए अब कॉम्युनिज्म दोनों में से किसी कंट्री में रहा नहीं है इसलिए आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग वैसे भी वीक था और अब न के बराबर है तो ऐसे में रशिया है वो हो सके उतना न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा क्योंकि वो उसने उसके पास इतना न्यूक्लियर वेपन है कि कोई रशिया पे हमला नहीं कर सकता उसके पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस है कि उसके दूसरों के माइंस वगैरह हड़पने की जरूरत नहीं है वो अपने माइंस को भी पचा नहीं पा रहा इसलिए वो जहां तक हो सके वो अलग रहेगा इस्लामिस्ट कंट्री जैसे मैंने आपको बताया Saudi Arabia Kuwait Dubai Iran वगैरह वो पूरे विश्व में सारे धर्म को खत्म करके इस्लाम धर्म लाना चाहते हैं और भारत के स्वदेशी अब जो भारत के नेता है और भारत के कार्यकर्ता हैं उनको दो चीजें करनी है भारत के कार्यकर्ताओं को एक तो उनके जो नेता है भारत के उनको एनालाइज करना है कि ये ये पांच में से वो कौन सी साइड में है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट है मिशनरियों के एजेंट है वो चाइना के एजेंट है रशिया के एजेंट है और जब इनमें लड़ाई होगी तब वो किस तरफ जाएंगे वो भारत की ओर आएंगे या फिर वो चाइना की ओर चले जाएंगे या सऊदी अरेबिया की ओर चले जाएंगे वो उनको तय करना है तो भारत के जो स्वदेशी है वो क्या चाहते हैं वो भारत को बचाना चाहते हैं और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हैं सबसे बड़ी गलती क्या की है उन्होंने बेवकूफ़ी कहूंगा मैं उन्होंने उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि अमेरिका भारत पे कभी हमला नहीं करेगा भारत के बहुत कम राष्ट्रवादी मैं तो कहूंगा ये राइट टू रिकॉल ग्रुप को छोड़ के शायद ही कोई ऐसा राइट टू राष्ट्रवादी ग्रुप होगा जो कि एडमिट करता हो कि भाई सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि फ्यूचर में अमेरिका हम पे अटैक करने वाला है अधिकतर लोग इस अफीम पी के सो रहे हैं कि अमेरिका भारत पे अटैक नहीं करना चाहता और दूसरा वो कहते हैं कि अमरीका को ईसाई धर्म अमरीका की सरकार इलिट अमरीका के आम आदमी को कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए वो मारकूट करे पर जो इलीट है अमेरिका की वो ईसाई धर्म फैलाना चाहती है लेकिन भारत के राष्ट्रवादी इस नींद में सो रहे हैं कि अमेरिका ईसाई धर्म फैलाने की कभी कोशिश नहीं करेगा और वो क्यों क्योंकि उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म फैलाने की कोशिश की थी वो इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है क्योंकि ब्रिटेन ने आज़ादी के बाद जो भारत के इतिहास लिखने वाले थे उनको पैसा दिया कि ये बात तुम इतिहास में से दबा दो यानी इतिहास की जो पाठ्य पुस्तकें लिखी गई उसमें ये जो पेड हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि ईस्ट इंडिया ने ईसाई धर्म थोपने के काफी प्रयत्न किए थे वो असफल गए उसकी वजह से विद्रोह उसके बाद उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिए इतना ही नहीं जो आजकल करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखते हैं जैसे पेड टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलमिस्ट है या पेड इंडियन एक्सप्रेस के कॉलमिस्ट है पेड हिंदुस्तान टाइम्स के कॉलमिस्ट है वो भी इस बात की इंफॉर्मेशन राष्ट्रवादियों को नहीं देते कि भाई साउथ कोरिया है वो एक जमाने में 1960 में दो तीन परसेंट क्रिश्चियन था आज 40-45 परसेंट क्रिश्चियन हो गया ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है ये इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए तो वो तुरंत सोचना शुरू करेंगे कि भाई ये तीन चार परसेंट से प्रोपोर्शन बढ़ के सीधा 40-45 परसेंट कैसे हो गया तो वो समझ जाएंगे कि भाई अमेरिका है वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए हमला कर सकता है जो इराक पे अटैक हुआ उसके भी दो रीजन है एक तो पेट्रोल के कुएं छीनने थे और दूसरा वहां पे ईसाई धर्म लाना था ये दोनों रीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है तो अब अमेरिका और इस्लामिस्ट यानी कि मिशनरी एमएनसी ओनर मिशनरी और इस्लामिस्ट इन दोनों में टकराव की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ऑलरेडी इराक के मुद्दे पर टकराव हुआ उसमें एमएनसी ओनर जीत गए उन्होंने इराक को पूरा लूट लिया वहां पे अब ईसाई धर्म फैला रहे हैं इराक पूरा कंट्रोल में उसके बाद लीबिया का नंबर आया लीबिया को आधा लूटा अभी लूटा नहीं है पर लीबिया को खत्म कर दिया अब लूटने की शुरुआत हो रही है और वहां पे भी ईसाई धर्म आएगा फिर माली माली की में सोने की खान थी वहां पे भी अब फ्रांस की सेना ने कब्जा कर लिया वो क्यों अटैक करना पड़ा जो गल्फ वॉर टू का भी एक सबसे बड़ा रीजन था गल्फ वॉर टू का गल्फ वॉर वन के बाद जो टू हुआ और माली पे जो अटैक हुआ लीबिया पे अटैक हुआ उसका, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि पेट्रोलियम माइनिंग की पेट्रोलियम ड्रिलिंग की पेट्रोलियम रिफाइनरी की काफी सारी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ एमएनसी ओनर्स के पास थी अब वो चाइना के पास आ गई है एमएनसी ओनर्स के पास से रशिया के पास भी आ गई लेकिन रशिया ने उसका एग्रेसिवली कहीं इस्तेमाल नहीं किया चाइना के पास आ गई इसलिए चाइना ने सऊदी अरेबिया से कहा कि हम को तुम बड़े पैमाने पे तेल के कुएं रिफाइनिंग करने की पावर दो और परमिशन दो वगैरह और जो तेल से पैसा आएगा वो हम तुमको देंगे तो चाइना की कंपनियां बड़े पैमाने पे इराक में जाने लगी उसके बाद फिर सऊदी फिर सदाम हुसैन ने कहा कि वहां से जो पेट्रोल निकलेगा वो पेट्रो दिनार यानी कि डॉलर में या यूरो में नहीं बेचेगा पेट्रो दिनार में बेचेगा पेट्रो दिनार करके एक वो अलग करेंसी बनाएगा या तो वो सोने या चांदी में बेचेगा तो उससे डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाती इसलिए फिर उन्होंने इराक पे अटैक किया उसके बाद लीबिया का भी वही था लीबिया के अंदर चाइना का एक ट्रिलियन डॉलर ट्रिलियन बिलियन नहीं एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट था और पूरा लीबिया था वो चाइना की साइड में आने वाला था इसलिए अमेरिका ने वहां सेना भेज के सब कुछ खत्म कर दिया माली का भी यही था माली में जो गोल्ड माइंस है वो काफी समय से बंद थी क्योंकि सोने की वैल्यू कम थी जब लेकिन सोने के इंटरनेशनल प्राइस सात हजार रुपया दस ग्राम का तोला का सात हजार से बढ़ के जब पंद्रह हजार हो गया बीस हजार हो गया तीस हजार हो गया अब कम हो गया थोड़ा पच्चीस हजार हो गया तो वहां की जो माइंस थी वो प्रॉफिटेबल हो गई तो वहां पे अमेरिकन कंपनियां गई उन्होंने बोला कि हम तुम्हें एक किलो सोने की इतनी रॉयल्टी देंगे चाइना वालों ने बोला हम अमेरिकन कंपनियां जितनी दे रही उसका तीन गुना देंगे तो माली के लोगों ने चाइना के माइनिंग कंपनियों को आने दिया तो आ, फ्रांस ने वहां सेना भेज के सब कुछ खत्म करवा दिया इसलिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या हो रहा है कि चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना सस्ते दाम पे इस्लामिस्ट को देने को तैयार है और यदि ये ऐसा हुआ तो इस्लामी स्टोर मजबूत हो जाएंगे इसलिए इसलिए और दूसरा कि जहां जहां इस्लामिस्ट कंट्री है वहां पे चाहे अमेरिका है वहां क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहता है इसलिए इन दोनों में टकराव की संभावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है यूएसए नेटो और इस्लामिस्ट में और टर्निंग पॉइंट होगा जब अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तो अमेरिका ईरान पे हमला करेगा तब चाइना के पास एक ही ऑप्शन है कि वो ईरान की मदद करे क्योंकि यदि ईरान खत्म हो जाता है तो चाइना का जो सबसे बड़ा पेट्रोल का सोर्स है ईरान वो उसके हाथ से निकल जाएगा या खत्म हो जाएगा तो फिर चाइना का पूरा डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा डेवलपमेंट में फ्यूल यानी कि पेट्रोल की बहुत बड़ी जरूरत होती है तो ऐसे में भारत को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा अब हमारे अभी के जो नेता है वो किस तरह से अलाइंड है कि जो सुडो सेक्युलर नेता जितने भी हैं, नीतीश कुमार, सोनिया लालू वगैरह, वो सऊदी अरेबिया से जुड़े हुए वो क्यों पैसे के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स एकदम बकवास चीज है मुस्लिम वोट है कितने इंडिया में 16-17 percent maximum 18 percent all over India की बात कर रहा हूं 18 परसेंट से ज्यादा नहीं है मुस्लिम वोट और हिंदू वोट कितने हैं दो परसेंट बुद्धिस्ट मान लो दो परसेंट पर जैन तो अधिकतर हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं बुद्धिस्ट भी हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं तो बाकी सिख भी हिंदुओं की तरह ही वोट करते हैं पंजाब में भी वो अधिकतर अकाली पार्टी को वोट देते हैं अकाली पार्टी का मोस्ट ऑफ द टाइम तो बीजेपी के साथ एलाइनेशन होता है तो इस तरह से जो हिंदू वोट है वो टू परसेंट है तो अब किसी मैथमेटिशियन से पूछो या फर्स्ट क्लास से लड़के से पूछो कि भाई टू का आंकड़ा या बड़ा या एटीन का आंकड़ा बड़ा तो कहेगा टू का बड़ा पर ये कुछ भारत के पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो कि तोड़ मरोड़ के तोड़ मरोड़ के एक ही लॉजिक बोलते हैं कि 18 इज ग्रेटर देन 82 यानी कि मुस्लिम वोट बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मुस्लिम वोट बैंक की कोई वैल्यू नहीं है जो सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है सिर्फ उसी का चक्कर है वो पैसा आना बंद हो जाए तो ये सारे के सारे नेता है वो एक ही दिन में सब हिंदूवादी हो जाएंगे या तो मिशनरियों के साथ जुड़ जाएंगे अब कौन कौन से हमारे लीडर है जो कि प्रो मिशनरी है सीपीएम एक जमाने में प्रो रशिया था लेकिन रशिया के पास पैसा खत्म हो गया तो कुछ प्रो चाइना हो गया और बाकी सब मतलब ये दोनों में नाम होना चाहिए सीपीएम का सीपीएम का नाम इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए तो अब वो आधे भारत आधे अमेरिका के एजेंट हो गए आधे चाइना के एजेंट हो गए अरविंद गांधी गांधी मतलब सोनिया गांधी गांधी के एडोप्टेड सन है इसलिए मैंने उनकी सरनेम गांधी रखी है वो सेंट परसेंट मिशनरी से जुड़े हुए हैं मोदी साहब भी अभी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ है वो मिशनरी के साथ नहीं है लेकिन कुछ ही साल में उनको तय करना पड़ेगा कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ रहेंगे या उनसे दरकिनारा करेंगे क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी वो मिशनरियों को लाने की कोशिश करेंगे या तो एक समझौता इस तरह से हो जाए कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कहेगी कि भाई हम 20 साल तक मिशनरियों को नहीं लाएंगे तो 20 साल तक दोस्ती चलेगी उसके बाद मिशनरी आएंगे पर जो आज की तारीख में वो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है तो इनडायरेक्टली वो मिशनरियों के साथ है और इसलिए भले वो चाहे या ना चाहे लेकिन इनडायरेक्टली वो एंटी इंडिया है और एंटी चाइनीज और एंटी ये तीन में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि कोई एंटी इस्लामिस्ट है या anti Saudi Arabia anti Chinese है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अभी उनका एक पॉलिसी ट्रेंड क्यों एंटी इंडिया है क्योंकि उनका एक पॉलिसी ट्रेंड अभी प्रो एमएनसी ओनर है अब सोनिया जी है वो दोनों साइड पे प्रो मिशनरी भी है प्रो एमएनसी ओनर भी है और साथ साथ में वो प्रो इस्लामिस्ट भी है वो क्यों और वो क्यों ज्यादा दिन नहीं चलेगा आज की तारीख में और ज्यादा दिन नहीं चलेगा इसी तरह से नीतीश कुमार है वो प्रो मिशनरी भी है मुलायम है वो प्रो मिशनरी भी है लालू है वो प्रो मिशनरी भी है वो प्रो एमएनसी ओनर भी है मुलायम सिंह जब वन टू थ्री का तारीख आपको बताऊं तो सितंबर 2008 सितंबर 2008 में जब one two three legislation pass कराना था तो वोट कम पड़ रहे थे क्योंकि सीपीएम ने दर किनारा कर दिया उनकी कैडर में विद्रोह की परिस्थिति आ गई थी कि भाई आप इस तरह से एंटी इंडिया प्रो अमेरिकन कानून को कैसे सपोर्ट कर सकते हो इसलिए सीपीएम के सांसदों ने अमेरिका को बोला कि भाई हमारे कैडर में बगावत की परिस्थिति आ गई है हम इस कानून को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने मुलायम को फोन किया कि आपको सपोर्ट करना है जो भी पैसा वैसा दिया होगा वो तो होता ही है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती पर मुलायम सिंह के जो 25 के 35 पैंतीस मैं भूल गया 30 35 एमपी थे सारे सांसदों ने अमेरिका को जो 3 लेजिस्लेशन चाहिए था उसको फेवर में वोटिंग की तो ये जितने लीडर जो प्रो सऊदी अरेबिया है pseudo secular leader pro Islamist है और एंटी इंडिया है एंटी हिंदू है एंटी स्वदेशी है वो आज की तारीख में प्रो एमएनसी ओनर और प्रो मिशनरी भी है क्यों क्योंकि इन दोनों में जो संघर्ष है वो इतना तीव्र नहीं हुआ लेकिन जब इन दोनों में युद्ध हो जाएगा मतलब कि ईरान जब अमेरिका जब ईरान पे अटैक करेगा तब ये जितने भी लीडर है वो सारे के सारे ये जितने भी लीडर जो आज इधर भी और इधर भी वो सब इधर आ जाएंगे और एक बार 100 परसेंट इधर आने के बाद ये सारे सूडो सेक्युलर लीडर है वो एकदम कट्टर एंटी मुस्लिम बन जाएंगे मतलब विश्व हिंदू परिषद से भी शायद ज्यादा आज की तारीख में वो इस्लाम के फेवर में जितना भी बोलना हो बोले लेकिन एक बार अमेरिका से जब ऑर्डर आएगा कि आज से तुमको 100 परसेंट एंटी इस्लाम बोलना है ये सारे के सारे लीडर कट्टर एंटी मुस्लिम बन जाएंगे और बड़े पैमाने पे एक एंटी मुस्लिम स्टैंड ले लेंगे ये जो मैंने कमेंट किया मेरे फेसबुक आर्टिकल में लिखेगा कि वो इतने एंटी इस्लाम बन जाएंगे एंटी इतने कि इतने एंटी मुस्लिम बन जाएंगे कि उस समय वीएचपी बजरंग दल आरएसएस ये सब सेक्युलर दिखने लगेंगे अब ये पूरी जो खिचड़ी है वो अपने वो अपने अपने स्वार्थ से पकाएंगे ऐसे में हम क्या कर सकते हैं हम यानी भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी हिंदूवादी तो एक बात तो हम इन देशों को खत्म नहीं करना चाहते हम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हमारे पास ताकत भी नहीं है कि इनको खत्म कर सके इनमें से किसी को आज की तारीख में तो शायद हमारे पास अपने आप को बचाने की ताकत भी नहीं है जो कि कारगिल के युद्ध में साबित भी हो गया कि कारगिल के युद्ध में अमेरिका ने जब फ्रांस ने जब हमको लेसर गाइडेड मिसाइल दिए तभी हम पाकिस्तान को हरा पाए वरना हम अपने बलबूते पे तो हराने के पाकिस्तान में पाकिस्तान के घुसपैठिए जो भारत में घुस आए थे हम उनको अपने ताकत पे निकालने में असमर्थ थे तो हम सिर्फ अपने आप को बचाना चाहते हैं तो इसमें हम यानी कि भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी हिंदूवादी पहले हमें ये एक इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि अमेरिका ने इराक पे अटैक किया, लीबिया पे किया, माली पे किया, ईरान पे करने वाला है तो हम पे क्यों नहीं कर सकता लोकशाही लोकशाही भाई भाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भाई भाई ये सब बकवास है क्योंकि हम उनके कॉल सेंटर चलाते हैं इसलिए हम पे अटैक नहीं करेगा हम उनके लिए सॉफ्टवेयर लिखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं इसलिए वो हम पे अटैक नहीं करेगा ये सारे दिल खुश करने की और मन बहलाने की बात है दूसरा अमरीका ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कुछ नहीं किया ये बात हमें अध्ययन करनी पड़ेगी कुछ नहीं किया था तो फिर साउथ कोरिया में कैसे ईसाई धर्म 5 प्रतिशत से लेकर 45 परसेंट हो गया 20 साल 25 साल के अंदर ये चीज समझने के बाद भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी उनको तय करना पड़ेगा कि अमेरिका के मल्टीनेशनल और मिशनरी के बारे में उनका क्या ओपिनियन है दूसरा यदि ये स्वदेशी के लिए खास अप्लाई होता है कि वो एंटी मिशनरी ओनर है स्वदेशी वो तो ऑलरेडी है पर मिशनरी के बारे में वो कंफ्यूशन में है कि भाई हमें मिशनरियों के खिलाफ क्यों जाना चाहिए हिंदूवादी जो स्टैंड लेते हैं कि भाई हमें मिशनरियों के खिलाफ जाना चाहिए हमें एमएनसी ओनर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए इसी तरह से स्वदेशी में कंफ्यूजन है कि हमें सिर्फ एमएनसी ओनर के खिलाफ जाना चाहिए हमें मिशनरियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए इन दोनों को इस बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम एक के खिलाफ हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे के खिलाफ हो गए क्योंकि ये दोनों अपने आप को जुड़वा भाई समझते हैं इन दोनों की इतनी गहरी पार्टनरशिप है कि आप इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा आप इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो एमएनसी ओनर तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे इसलिए एक के खिलाफ हो गया यानी ऑटोमेटिकली दूसरे के खिलाफ हो गया और ऑटोमेटिकली यदि तुम प्रो इंडिया हो तो तुम प्रो एंटी पाकिस्तान हो गए क्योंकि पाकिस्तान भारत को खत्म करना चाहता है एंटी चाइना हो गए क्योंकि चाइना आज की तारीख में भारत को खत्म करना चाहता है जिस दिन चाइना अपना ये इंटेंशन छोड़ दे कि उसे भारत को खत्म नहीं करना उस दिन हमें एंटी चाइना बनने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये इंटेंशन कभी खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान सौ बार खत्म हो जाएगा लेकिन वो हिंदुस्तान को खत्म करने का उसका इंटेंशन है वो नहीं छोड़ेगा यानी एंटी पाकिस्तान तो आज आज की तारीख में होना पड़ेगा और शायद दस जन्म तक रहना ही पड़ेगा हमें इसी तरह से एंटी सऊदी अरेबिया रहना पड़ेगा क्योंकि सऊदी अरेबिया ये अपना सपना कभी नहीं छोड़ने वाला कि पूरे इस विश्व में उसको इस्लाम चाहिए बाकी सारे धर्मों को खत्म करना है और इसी तरह से हमको एंटी एमएनसी ओनर और एंटी मिशनरी बनना पड़ेगा क्योंकि एंटी एमएनसी ओनर जिस दिन ये अपना ख्वाब छोड़ देंगे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का उस दिन हमारी उनसे दुश्मनी कम हो जाएगी खत्म हो जाएगी पर आज के तारीख में वो अपना ख्वाब नहीं छोड़ना चाहते आज की तारीख में वो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं आज की तारीख में ये मिशनरी है वो सारे धर्मों को खत्म करके ईसाई धर्म लाना चाहते हैं जो पोप ये जो पोप है उससे दो पोप पहले ये या अभी जो पोप है उससे पोप पहले थे बेनेडिक्ट उससे पहले थे पोप पॉल उन्होंने भारत में स्पीच डे में उन्होंने अपनी भारत में आए थे तब तो उन्होंने स्पीच में कहा था कि फर्स्ट मिलियनियम यानी पहले 1000 साल में हमने पूरे यूरोप में ईसाई धर्म लाया सेकंड मिलियनियम में हमने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में ईसाई धर्म लाया थर्ड मिलियनियम में हम पूरे एशिया में ईसाई धर्म फैलाएंगे पूरे एशिया में ईसाई धर्म फैलाएंगे उसका मतलब क्या हुआ कि एशिया में हिंदू धर्म बुद्ध धर्म और इस्लाम है उसको खत्म कर देंगे और ये उन्होंने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था यानी यदि आप स्वदेशी हो या आप हिंदूवादी या भारतीय राष्ट्रवादी हो तो एंटी मिशनरी बनने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है अब इसमें एक खास चीज ये इंपॉर्टेंट है कि if you are pro India तो you need not become anti Islam और एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियनिटी इन धर्मों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है मिशनरी है वो कहते हैं कि हमें सारे दुनिया से सारे धर्म खत्म कर देने ईसाई धर्म लाना है लेकिन क्रिश्चियनिटी से कोई दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं ये सब इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं इस्लाम के बहुत सारे लिबरल इंटरप्रिटेशन है कि जिसमें कुरान में लिखा है कि भाई तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक हमें हमारा धर्म मुबारक कुरान में यह भी लिखा है कि जहां पे मंदिर है या कोई और पूजा का स्थल है चर्च वगैरह उसको तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते लेकिन जिसको कट्टरवाद फैलाना है वो इसका उल्टा इंटरप्रिटेशन करते हैं या तो उसको उस पर्टिकुलर श्लोक को या शूरा को नजरअंदाज कर देंगे और कट्टर इस्लाम रखेंगे तो हमें जो प्रो इंडिया है उनको इस्लाम क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या Christianity sorry Muslim Christian Islam और क्रिश्चियनिटी ये चार चीजों से किसी प्रकार की दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है रखनी भी नहीं चाहिए उसको दुश्मनी रखनी है सिर्फ इस्लामिस्ट से और क्रिश्चियनिस्ट से ये दो ही चीजों से दुश्मनी रखनी है पर ये दो चीजों से दुश्मनी रखनी पड़ेगी We have nothing against Islam and Christianity. ये दो चीजों में से भी हमको कोई लेना देना नहीं है हमको अपनी रक्षा करनी है MNC owner missionary Saudi Arabia Pakistan और चाइना से कब तक जब तक कि वो हमसे दुश्मनी ना छोड़ दे तब तक जब तक वो दुश्मनी रखते हैं तब तक हमें उनसे दुश्मनी रखने का कोई दुश्मनी रखनी पड़ेगी अब आप सारे लीडर को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि हर एक में बड़ी और छोटी और बहुत बड़ी कमियां हैं ये सारे आज की तारीख में जो सुडो सेक्युलर लीडर है वो इस्लामिस्ट के साथ मिले हुए हैं एमएनसी ओनर के साथ मिले हुए हैं मिशनरी के साथ मिले हुए हैं अरविंद भाई है वो सेंट परसेंट फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है वो मिशनरियों से मिले हुए हैं एमएनसी ओनर से मिले हुए हैं और वो क्यों बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं अरविंद गांधी है वो इनसे भी मिले हुए हैं किस सेंस में कि ये नीतीश कुमार सोनिया लालू वो तो सीधा सऊदी अरेबिया से पैसा लेते हैं अरविंद गांधी है वो पैसा नहीं लेते क्योंकि उनको एक अच्छी इमेज मेंटेन करनी है पर वो फिर भी बांग्लादेशियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते क्योंकि उनको एमडी टीवी जैसी पेड पेड एमडी टीवी जैसी टीवी चैनलों का सपोर्ट चाहिए अब एमडी टीवी को पैसा कहां से आता है सऊदी अरेबिया से आता है इसलिए वो देखते हैं और इस तरह से बहुत सारे जैसे पेड इंडियन एक्सप्रेस को पैसा सऊदी अरेबिया से आता है बहुत सारे टीवी चैनल है न्यूज़पेपर है जिनको सऊदी अरेबिया से पैसा आता है इसलिए अरविंद गांधी गांधी देखते हैं कि भाई मैंने बांग्लादेशियों के खिलाफ बोला तो ये सारे अखबार मुझे सपोर्ट देना कम कर देंगे बंद कर देंगे इसलिए वो आज की तारीख में इनसे मिले हुए हैं बाकी सबसे मिले हुए हैं इनमें से सबसे अच्छे और कहूंगा सबसे कम खराब मोदी साहब है नरेंद्र मोदी कि वो मिशनरियों के खिलाफ है सऊदी अरेबिया के तो 100 परसेंट खिलाफ है, एंटी इस्लामिस्ट चाइना के भी खिलाफ है, लेकिन वो प्रो एमएनसी ओनर है आज की तारीख में। उनकी मजबूरी है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास इतने सारे मीडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा मल्टीनेशनल कंपनियों का गुलाम बन चुका है। इसी तरह से बहुत सारे स्टार टीवी, वो मल्टीनेशनल कंपनियों का है, सोनी टीवी, वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों का है। तो इतने उनको और पॉजिटिव मीडिया कवरेज तो चाहिए ही चाहिए बड़े पैमाने पर। इसलिए आज की तारीख में उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो है कि उन्होंने MNC owners मतलब ये taken a pro MNC owner stand जो कि problem आएगा अब मैं अब इसमें जो right to recall group है वो हर एक dimension में ठीक उतरता है recall list या right to recall group जिसमें मैं आ गया मेरे सारे colleague आ गए We are anti-MNC owner. हमने multinational कंपनियों की भारत में ताकत कम हो उसके लिए काफी सारे कानून प्रपोज किए हैं। आम, um, मेरी आप uh, book डाउनलोड कर सकते हो rahulmehta.com slash 301.htm से और मिशनरी और इस्लामिस्ट कमजोर हो उसके लिए भारत की सेना मजबूत करना और एमआरसीएम का कानून कि उससे गरीबी कम होगी तो अपने आप जो मिशनरी हिंदू धर्म खत्म करके ईसाई धर्म लाने की कोशिश करते हैं वो कोशिश अपने आप उनकी कमजोर हो जाएगी तो इस तरह से सारे ऐसे कानून जो कि प्रो इंडिया है प्रो स्वदेशी है प्रो हिंदूवादी है वो सारे कानून ने सपोर्ट किया है और बाकी जो प्रो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो एमएनसी ओनर को सपोर्ट करेंगे उनको आज या कल प्रो मिशनरी होना ही पड़ेगा जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने ये YMCA young man Christian association के एक इवेंट एनुअल इवेंट को मेजर एनुअल इवेंट को उन्होंने इनोग्रेट किया अब YMCA का आप वेबसाइट देख लेना विकीपीडिया पेज देख लेना YMCA का उसमें लिखा है कि YMCA का मकसद क्या है कि ईसाई धर्म का अरे जीसस का संदेश विश्व के हर एक युवक तक ले जाना यानी क्या मतलब हुआ जीसस का मैसेज हर एक युवक तक ले जाना यानी हर एक युवक को क्रिश्चियन बनाना हर एक युवक को युवती को तो इस तरह से वो एक हार्डकोर मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है क्रिश्चियनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल एक्टिविटी पे जोर देता है कि सोशल एक्टिविटी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूथ को अपनी ओर खींचो और फिर उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो और उस इवेंट का क्यों मोदी साहब को उनके एनुअल इवेंट को इनोग्रेट करना पड़ा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के पास बहुत सारा मीडिया है और उस मीडिया से यदि फेवरेबल कवरेज चाहिए तो मिशनरियों को मदद करनी पड़ेगी या कम से कम उनका विरोध मत करो वो मदद करने की बात नहीं करेंगे वो ये कहेंगे कि इनका हर तक किसी भी एंगल से विरोध नहीं होना चाहिए बाकी फैलाने का काम वो अपने पैसे पे अपने बलबूते पे कर लेंगे तो इस तरह से मैं समराइज करूंगा कि पहले आप दुनिया के जो चार शक्तियां हैं उनका अध्ययन करो एमएनसी ओनर और मशीनरी वो मिले हुए हैं वो एक ब्लॉक हो गया दूसरा ब्लॉक हो गया चाइना तीसरा ब्लॉक हो गया रशिया जो कि बाय एंड लार्ज अब न्यूट्रल रहने वाला है चौथा ब्लॉक हो गया ये सऊदी अरेबिया ईरान जिनके आपस में झगड़े हैं लेकिन इनमें एक समानता है कि वो पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हैं और पांचवें हम हुए भारत के राष्ट्रवादी स्वदेशी हिंदूवादी जो कि आपस में अलाइन नहीं हो पाते क्योंकि उनके अब उनके मिसिंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हिंदूवादी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि स्वदेशी के पास नहीं है स्वदेशी के पास इन्फॉर्मेशन है जो हिंदूवादी के पास नहीं है कुछ एक इंफॉर्मेशन जो इंडियन नेशनलिस्ट के पास नहीं है जो कि स्वदेशी के पास है जैसे बहुत सारे भारत के राष्ट्रवादी ये नहीं समझते जानते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमें क्यों इम्पोर्ट कम करने चाहिए वो कहते हैं कि भाई इंपोर्ट हो रहे तो होने दो सस्ती चीजें आ रही अच्छी चीजें आ रही है पर ये कि भाई इंपोर्ट चलते रहे तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा और वेपन मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन दिए जाए तो जो नॉन स्वदेशी नेशनलिस्ट है वो स्वदेशी नेशनलिस्ट बन सकता है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था क्योंकि टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किस तरह से इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ वॉर इकोनॉमी और रिलीजन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है कनेक्शन किस तरह से आज के इंडिया को इफेक्ट करता है और आज की तारीख में जो प्रो इंडियन एक्टिविस्ट है उनको क्या स्टेप लेने चाहिए ये सारे टॉपिक मुझे एक वीडियो में डिस्कस करने थे इसलिए वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा फेसबुक का आर्टिकल है जिसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है वो भी आप पढ़ें धन्यवाद